श्रोतम चैतन्य कोई पक्षी कहता है कि श्रोत्रादि ही तो सभी लोगों के अंदर प्रसिद्ध है सभी का आत्मा है ऐसा लोग समझते कोई शरीर को आत्मा मान रहा है कोई इंद्री को आत्मा मानता है कोई मन को आत्मा मानता है इसलिए श्रोत्रा भी ये होगा सर्वस्व आत्मरूपम चेतन की प्रसिद्ध यही आत्मरूपा चेतन श्रोत्राजी है ऐसे दुनिया में सर्वसामान्य लोग में यह बात तो आप भी कैसे कह गया श्रोतकर्म को दूसरा स्रोत्र या अधिष्ठान को अच्छी में किसी प्रकाश देने वाला है वो आत्मा ही यह कैसे लोक मूल प्रसिद्ध है स्रोत्र आदि को ये आत्मा मानते हैं चेतन मानते निवृत्त इस पूर्व पक्षी की आशंका को निवृत्त विद्युत बुद्धिगम्यम सर्वांतरतम कूटस्थम अजरम अमृतम वजम स्वप्राण में स्वप्राणी सामर्थ्य निपन प्रतिवचन शब्दार्थ मुझे बताना था अर्थ किरत बुद्धि ब्रह्म विद्या को जानने वाले के बुद्धिमात्र गम्य है क्या उपनिषद पुरुष सर्वांतरता है उपस्थ है अजर है अमर है अमृत है अभय अजर श्रोत्रादि का भी श्रोत श्रोत्रादि का मतलब उनके सामर्थ्य का निमित्त श्रोत्रादियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने के सामर्थ्य का निमित्त जो है उसी को यहाँ पर प्रतिवचन इसलिए जवाब दिया गया है ऐसा मानने का शब्दार्थ प्रस्तुत बोलते शंकर्थ भी मनसो मनसो मनसो अंतकरण से मन यही अंतकरण अंतरेणा चेतन जो दिशा जिनकी स्वविषय संकल्प व्यवसाय आज समर्थन अंतकरण मंत्र चैतन्य ज्योतिषा अंतरण चैतन्य ज्योतिषा अंतर चैतन्य ज्योति के बिना अंतकरण जो है चैतन्य ज्योति के बिना के दीपित है चैतन्य ज्योति द्वारा दीपित किए बिना चैतन्य ज्योतिषा दीपितम अंतरेण इधम अंतकरणम स्वयं भूतम संकल्प को समर्थन दिया अपना विषय भूत संकल्प या दोषा आदि करने में कभी समर्थन नहीं हो सकता अस्मात मैंने सोच में इसलिए कहा मनु की उपाधि का भी वह असली मन है यह बुद्धि मन से एक ही करके निर्देश है मनो यहाँ बुद्धि और मन दोनों को एकीकृत करके निर्देश किया गया मन से तद्वाचो हवा एक शब्द यत्ना करते यहाँ जो एक शब्द आया है वो सभी से जो श्रोतस्य श्रोतम यद और पंच को जो एक बार यशना जिसकी वजह से उस भी सबको ग्रहण करता है यत्ना आदर पे श्रोत्र आदि श्रोत्र आदि सभी के साथ उसमें गुणा करके वाला छंद को यस्मात् मनुष्य इस प्रकार वाचो हवाचो द्वितीया प्रथमात्म विपरीण वाचो है वाचन करके जो ये है इसको प्रथमात्म विपरीणाम कर लेना वाचन द्वितीय नहीं होता प्रधान चाहिए कैसे मालूम होगा पहले श्रोत्र श्रोत्र में अपन से नहीं तो प्रथमा बराबर होता है प्रकाश बराबर है तो प्रकाश ले सकता हूँ अगला में करता है पूर्व में भी प्रतिमान ये भी इसीलिए जो विद्या दिखाई दे है उसको प्रतिमान को देना ये परिणाम कर लेना चाहिए प्रतिमा के प्रणम क्या प्राण से प्राण कुछ दर्शना वाचो है वाचु क्षेत्र अनुरोध है ना पूर्व पक्ष का उल्टा गया वाचो है वाच्य में द्वितीय है प्राण से प्राणम ऐसे कर लो तो प्रथमा को द्वितीय बना लो द्वितीय को प्रथमा नहीं उल्टा क्यों नहीं करोगे कोई पूछता है वाचो तो तो है वाच्य में जरूर ना प्राण से प्राणम द्वितीय बनना रहते क्यों उस प्रथमा की द्वितीय नहीं कराओगे हम्म, सिद्धांत नाम अनुरोध से युक्त इनकी बहुत प्रतिमा को देखते हुए उसके अनुरोध से हम इसको ही प्रतिमा बनाना भी उचित वाचित क्या वाक वाचन ये जो है इसको वाक ऐसे प्रतिमा बना के कथन करना ही उचित शब्द ज्ञान बोलेंगे स प्राण स वायु प्रतिबंध कार्य भी प्रतिबंध जोड़ने को देंगे पड़ेगा सह को भी बंद करना पड़ेगा प्राणम बनाओगे तो सह को भी बंद बनाना पड़ेगा अन्न प्राणम ऐसे करना पड़ेगा दो पद को जो है बोलने की अपेक्षा से वाच्य और वाच्य में वाचन एक पद का बोलना वार्ता होता है इसलिए कहते हैं वहां एक शब्द द्वयान रोग देना सह रखना है प्राण रखना है इस शब्द द्वय का अनुरोध से वहां पर जो एक पद को द्वितीय अर्थात बनाना लागू होता है एवं बहुनाम अनुरोध इस प्रकार से दो शब्द का अनुरोध के ऊपर उसमें द्वितीय को कल्पना करना हिंदी और पूछा होती है प्रथमान के द्वारा पूछा कई देवों ने कहा है ना कहा देवो प्रतिमा की तरह पूछा इसलिए भी यहाँ पर इसको प्रतिमान पर पूरी जवाब देना उचित होता है स्त्रिया कृष्णा प्राण से प्राणात्मक विशेष वह यह जो तेरे द्वारा पूछा हुआ है वो क्या है वो प्राण का भी प्राण अगर प्राण नामक जो वृत्ति विशेष उस वृत्ति विशेष का भी अर्थात उस वृत्ति विशेष का भी सामर्थ्य का कारणीभूत करता ही प्राण से प्राण सामर्थ्य क्योंकि आत्मा जो चेतन है इसी के कारण से ही क्योंकि प्राण के अंदर प्राण क्रिया का सामर्थ्य आ गया है नहीं आत्मा अनधिष्ठित प्राणित आत्मा को तो बोला अनधिष्ठित वस्तु के अंदर प्राणन क्रिया प्राण करने समर्पक नहीं होती देता देते हैं कोई कह प्राण्यात देश आकाशानंदो कौन है वो अनन प्रयोग अपारम प्रयोग कर सकेगा कौन है वो जो प्राण में प्रयोग कर सकेगा इस आनंद रूप आकाश ये नहीं होता अन्नात्म अपानी क्रिया प्राण्यात्म प्राणी अन्य प्राण में दोनों जगह एक प्रयोग रहे थे प्राण्या प्राण्या दोनों प्रयोग कर दिए प्राण्या प्राण्या प्राण्या से अपान क्रिया प्राण्या से प्राण क्रिया एक प्राणम उन्नति अपांत स्पष्ट है ये आत्मा ही इस प्राण को ऊपर के ले जाता है और अपान को नीचे की ओर सीखता है यहाँ की लक्ष्य यहाँ जो लग्न करने ये न प्राण प्रिय जिस चेतन से यह प्राण का प्रणाम क्रिया को करता है कोई ब्रह्म करके जानो इसे यही जिसको तुम इधम तया उपासना करते हो श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावित पूर्व पक्ष का कहना है लेकिन पूर्व में इंद्रिय का विचार बाद में इंद्रिय का विचार है लेकिन बीच में जो प्राण शब्द का तो घ्राण भी प्राण इंद्रिय भी लेना चाहिए पूर्वोत्तर में इंद्रिया है तो बीच में जो प्राण शब्द आया है इसका अर्थ भी इंद्रिय तरफ ही ले लो और अन्य परिषदों ने प्राण इंद्रिय को भी प्राण शब्द प्रयोग किया है सांगे प्राण इंद्रिय को प्राण शब्द कहा इसलिए यहाँ भी जो प्राण से प्रारंभ है घ्राण से घ्राणम ऐसा से प्राण को घ्राण से हाँ, घ्राण ऐसा कर तो श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्ताव घ्राण प्राण से मैंने घ्राणात्मक प्राण से घ्राणात्मक इंद्रिय से वह मन युक्तम ग्रहण ग्रहण करना उचित लगता है ये सब कौन सिद्धांत के तो ठीक कहते लेकिन ज्ञान तो तो नहीं से ग्रहण ग्रहण मनोरे ये प्राण का ग्रहण करने का सारी भी ग्रहण हो गए तो ग्रहण भी ग्रहण हो गया इसलिए ध्यान भी एक विशेष को ग्रहण करना प्राण सबसे सामान्य ग्रहण करना ही ज्यादा उचित है श्रुति मानती है प्राण ग्रहण को ध्यानात्मक प्राण से ग्रहण की एवं ऐसी मानती है व्यापार क्या है धंधोपादान रूपी व्यापार उसका जो है लक्षण से अपानात्मक प्राण व्यापार अधीन वो अपानात्मक जो प्राण है पंच प्राण में भी अपानात्मक प्राण के अधीन है जो ज्ञान का इन ज्ञानेन्द्र के द्वारा गंध को ग्रहण करना है व्यंग ग्रहण करने के लिए रामेंद्र को अपान वायु की अपान अपान अपान तत्व की अपेक्षा इसीलिए कोई तो गलत नहीं है श्रुति जो कह रही है प्राण से प्राण मुख्य प्राण दे दिया है जो दोष नहीं ग्रहण तक गौण प्राण कर लेना उचित नहीं सभी सेवा कर्ण कलाप से युवर्त प्रोक्ता प्रवृत्ति तक ब्रह्म की प्रकरणार्थ हम्म। संपूर्ण प्रवृत्ति वास्तव में सर्व सेवक करने का जो कुछ भी करने का लाभ प्राणापान में क्रिया हो चाहे इंद्रियों से अपना अपना व्यापार हो कोई भी क्रियाकलाप हो तो सारे के सारे निरर्थक का जिसके प्रयोजन से कोई होकर प्रयोग होकर किया गया है प्रवृत्ति तक मूल है ब्रह्म क्योंकि बोध का व्यापार बोध कराना ही संपूर्ण संपूर्ण प्रकरण का तात्पर्य है कोई लक्षित हो प्रमाण है जो जो उपक्रम था केचितम कभी तो वो वही यहाँ पर प्रमाण प्रश्न नहीं प्रमाण जैसा प्रश्न है उपक्रम हो उपसंहार बराबर होना चाहिए उपक्रम है दूसरा मंत्र उपसंहार जवाब दे दिया है और इसी को जो है ना आवर्त रसकृत प्रवेशा बृहस्पति कारण का है जो कई बार ऐसे श्रुति जो माता के तुल्य है वो बार बार बार बार बोले एक ही चीज को समझाने के लिए अनेक प्रकार से कथन माता के समान ब्रह्मांड गया असकृत देख मतलब तब तो वस्तु को नौ बार इतनी बार में क्यों चुप नहीं हुए यदि जब तक अवरोक्षानुभूति नहीं है तब तक उसको बार बार बोलना तब तक छुट्टी रूपी माता जो चुप नहीं रहती जब तक बोल रहा है बालक को जैसे माँ चुप नहीं होती है बारह बच्चा पूछे क्या है सम्मान हजार नहीं सब कुछ रखिए बार बार बार बार किसी प्रकार यहाँ पर जहाँ किसी और लग गई तो थप्पड़ भी खाते बच्चा इसलिए याद था जहाँ किसी को बड़बड़ की लग नहीं था तो खोपड़े तो कट गिर जाएगा तो कर दिया लेकिन ऐसा कर और कहा कि जो गति ग्रस्त करेंगे कि उसको भी जाता तो नहीं मिल गई यहाँ भी ऐसे ही है श्रुति ऐसे नहीं क्या तुम उल्टा पुलटा पूछते रहे सब जवाब देते रहेंगे अभी भी लिखता है और जिस विषय में उचित है असंख्य को उपदेश करना इस विषय में बाल राजनीति पूर्वक असंख्य उपदेश को द्वारा समझाया इस तरह से बच्चों में यही दूसरा मंत्र वास्तव में कुछ संहारे और पूरा हो जाता है तथा चक्षुष चक्षु चक्षुषा चक्षु रूप पैदा चक्षुष एक रूप ग्रहण का मृत्यु रूप के प्रकाशन करने वाला चक्षु के अंदर जो रूप ग्रहण करने का सामर्थ्य है पर आत्म में अधिष्ठित से ही आत्म में अधिष्ठित होने के कारण से ही है अतः चक्षु चक्षु हो इसे चक्षु का भी इस आत्मा को चक्षु कहा गया प्रश्न इसका प्रसज्ञातम इसके श्रोता श्रोता तत्पन्न ब्रह्म ब्रह्म ज्ञापा अज्ञापित प्रस्ताव के द्वारा पूछा गया जो पदार्थ है उसको जानने के लिए इष्ट होने के कारण श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि रूप है ऐसा जो कहा उपक्रम ब्रह्म है उसे जान करके अमृता भगवंत के साथ अनुभव कर दिया या विषय करना पड़ेगा एक तंत्र में ज्ञातवा अमृता भवंती अमृता भवंती भव्य अर्जा होगा अमृता भवंती प्रत्येक अमृता भवंती का मतलब क्या सुखा श्रुति का मतलब विमुक्त हो जाते हैं ये अमृत देवतादि के समान अमृत नहीं है किंचित कालापेक्षित नहीं है तक परंपरा जो है प्रकृति निर्माणों का अमृत इस प्रकार के अमृत यहाँ नहीं कह रहे ज्ञान भी अमृतत्म प्राप्त स्पष्ट है ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति ज्ञाता अर्थ मुख्य वीरा इत्यादि अनेक श्रुतियाँ इसके समान सामर्थ्य लब्धन अर्थम प्रतीक उपादान प्रबंधा अतिमुख्य की सामर्थ्या अतिमुख्य है सामर्थ्या सामर्थ्या श्रोत्रादि कर्ण कलाप मुझित्वा ब्रह्म ज्ञान के सामर्थ्य से वो क्या करता है श्रोत्रादि कार्य करने के कलाप से वो त्याग करते श्रोत्रादि आत्मभाव कृत्वा तदुपाधि पदार्थना चाहते हुए देखने जरूरी है क्योंकि होता क्या है वास्तविक संसार में आदमी श्रोत्रादियों में ही आत्मा करके बैठा बैठा है अभ्यास करके बैठा हुआ है इंद्रियों में शरीर में जो व्यक्ति तारात्म अभ्यास करके रह रहा है आत्मभाव को करके तद संस्थ उसकी उपाधि बनकर पदार्थना जाते तो उस रूप से उसको जानता है इसलिए मरता है और बार बार जन्म देता है संसन्न करता है अतः श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षण ब्रह्म आत्मा की विदिता उसे श्रोत्राधिकारी जो श्रोत्रादि ये श्रोत्रादि ब्रह्म नहीं है किंतु इसे श्रोत्राधिकारी जो सामर्थ्य का कारणीभूत तो चैतन्य प्रकाश है वो श्रोत्रादि ब्रह्म है उसको उसको आत्मा करके जाना उसने आत्म क्या और किसको त्याग है ये भी श्रोत आगे जिसको आत्मा करके तक मान रहा था ज्ञान काल में उस आत्मभाव परिप्रोच में जो श्रोत्रादि कर्म है इनके भी भाव माना होता है अध्यास से उस अध्यास को त्याग करती ये श्रोत्रादि हम प्रतिजंती जो इस प्रकार से श्रोत्रादि में आत्मभाव को त्याग करेंगे तो वे धीरा धीमूर्त वे धीर है वे बुद्धिमान है यही विशिष्ट धीमत्तम मंत्रेण श्रोता या शक्त प्रत्यक्त विशिष्ट बुद्धिमान हुए बिना साधारण बुद्धिमान से नहीं काम चलेगा ये विशिष्ट अजया बुद्धि परिषद में बहुत तीक्ष्ण बुद्धिमान होना पड़ता तो, बहुत तीक्ष्ण जैसे जो है वो होते हैं बस उनके चिन्हों में जीव कतरे इतना तीक्ष्ण बुद्धि रखा है आपको पता ही नहीं चलेगा सारा मान उठा लेती है हर तीक्ष्ण बुद्धि लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान में लगाया हिमा बुद्धि को चोरी में लगा दिया तो बताया गया कि विशिष्ट जीवोत्तम मन श्रोता जाता है परित्यक्त नहीं सकता श्रोत्र आदि बना हुआ अनादिकाल से आध्यात्मिक सिद्धांत बना हुआ है उसको त्यागना प्रेत्य अस्मान लोका धनवाप प्रेत में अस्मात लोका इस लोक से इतना सुना गया पुत्र पौत्र शेर आदि लोका लोक पुत्र मित्र कलत्र कड़त्र से नम हम भाव संव्यवहार लक्षणा सर्वेशना विप्ला करने का मतलब है सर्वेशना का त्याग करके मरते तो कभी है ना शरीर तो मरे हुए सब किसी का भी है और शरीर को जा रहा नहीं है पूरे शरीर को त्याग करके ऐसा नहीं समझना है शरीर आदि में विद्यमान जो अहमता ममता के कारण से प्रवेशना और विवेशना तो का त्याग ये उसका अमृता अमर धर्मारो भरूंगी वो अमर धर्मा हो जाते हैं अर्थात न कर्मरा न प्रजया धनी न त्यागे नीगे मृदुतम आरशु कई लोग सरकार ने कहा एक दो में न कर्मणा न प्रजया कर्म से भी नहीं पुत्रारी संतान से भी नहीं धन से भी नहीं चाप से केवल अमृत को प्राप्त किया जा सकता है प्रधानचिकाने तो संग आवृत चक्षर अमृत को प्रधानचिकाने तो संग प्राण को शब्दांतरात्म कोई जो परमात्मा स्वयं ने इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया करके मानव से जीवन को हिंसित कर दिया है ऐसा यही है हमें जो आत्मा से दूर कर दिया और कहते आवृत चक्षु अमृत संकष्ट दी रहा उनको धीर होता है जो सकल इंद्रियों को समेट करके अमृत को चाहते हुए आत्मा का अनुभव करते हैं प्रत्येक प्रत्येगात्मा यह सर्वे प्रमुचंदे अत्र ब्रह्म समस्त कथा परिषद में लिखा है देती चौदह जब जब सर्वे ब्रह्म छंदे कामाक्षी हृदय उसके हृदय में हासिल प्रिय कामनाएं जिस क्षण दूर हो जाते निकाल दिए जाते त्याग दिए जाते इसी समय इसी शरीर में होते हुए मरने के बाद भी इसने यहाँ पर एक प्रकार मर के अगर नहीं के बारे में अत्य कर दिया अतः मैंने इस शरीर में जीते जी ही अब हम मुक्त मुक्त हो सकता है यही है कि तत्व का पर कृष्णा का अथवा थोड़ा ऐसा अर्थ न यू भी दूसरा अर्थ ले सकते हो क्या अतिमुच्च तेष्टात्या अतिमुच्च संसार कर आत्महत्या धर्म है श्रोत्र में आत्मभाव को क्या करना अतिमुच्च उच्च प्रत्येक त्याग अब योगा कर देंगे अतिमुच्च कर दो का त्याग त्याग से अस्मान लोकात ऐसा करना शरीर को छोड़ करके शरीर सुनिधा मरने के बाद में दोबारा उसको जन्म नहीं होगा वो अनर्थ को प्राप्त करने निवेदन मुक्ति को प्राप्त करेगा अतिमुक्ति का ही अर्थ जीवन मुक्ति हो जाएगा कृत्य में जो है विग्रह मुक्ति नहीं हो पड़ेगा सापेक्ष पहला वो तो जीवन मुक्ति कैसे में विग्रह मुक्ति होगा ना शरीर मर गया क्या विग्रह मुक्ति तो होगा जिनके जीव मुक्ति है ना जीवन मुक्ति शरीर के बिंदु रहते हैं इसलिए श्रोत्र श्रोत्रा आत्मतम ब्रह्मा अतो न तो ही इसलिए उस पत्र में तुम्हें का व्यापार नहीं हो सकता इसलिए श्रोत्र का श्रोत्र है आत्मिक ब्रह्म ही है अतः इसलिए पत्र नो मनो नो मन शिष्या अनेदेव तद्विता अधो अवहिता इति सुश्रम पूर्वेशान अक्षर को गच्छती इसके और व्यतिरिक मुख से श्रोत का भी श्रोत है और ये जो श्रोत का श्रोत का श्रोत प्रवृत्त हो सकता है चक्षु का भी चक्षु में क्या तो चक्षु प्रवृत्त हो सकता है वाणी का भी वाणी भूता सात्ता में क्या वाणी की प्रवृत्ति हो सकती है तो तत्र उस ब्रह्म तत्व के विषय में चक्षु मनोवृत्ति थी ये चक्षु अपने वृत्ति को उसको पकड़ नहीं सकता ये जो चक्षु अपनी वृत्ति को गजपतारी को ग्रहण कर लेता है जो यह चक्षु अपनी वृत्ति से प्रेम को ग्रहण नहीं कर नवाज बच्ची नवानी भी अपने शब्दों के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व की व्याख्या नहीं कर सकती वह मिले ये मन ही ग्रहण कर सकता है तो अपना स्पष्ट कहा है नविदमा इसलिए वे शिष्य तुमको ब्रह्म तत्व को पकड़ के दिखाओ तुमने बोला ना मुझे गाय को पकड़ के दिखाए तो तुम पकड़ के चोट को पकड़ के बन जाओगे बन ऐसा हम नहीं करता इसलिए मैं नहीं जानता हूँ तो उस ब्रह्म को विशेष रूप में तुम्हें कैसे समझाओ विद्मा यथा तम प्रति विशेष रूप में ब्रह्म अधिक जानना कहते हैं सोच शिव करे उसमें विभ्रम का उपयोग कैसे करना चाहिए ये हम नहीं जानते और सामान्य विशेष रूप से भी निरूपाधि रूप से नहीं कर सकते और उसको सामान्य रूप से नहीं कर सकता विशेष रूप से भी नहीं नहीं भी सामान्य विशेष समष्टि और दृष्टि है ना पहला निरुपमा निरूपाधि भ्रम को मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और निर्णय में हमें सोपाधिक सूक्ष्म सामान्य और सोपाधिक विशेष ब्रह्म का भी मैं व्याख्यान नहीं कर सकता यथा एक अनुशिष्या यथा एक अनुशिष्या न तद विद्मा नहीं जानी उसके साथ जरूरत है जिस प्रकार से मैं इस ब्रह्म के बारे में तुम शिष्य को उपदेश कर सकूं यह मैं नहीं जान पाऊ तो उसके साथ जरूरत यथा एक ब्रह्म तथा तम प्रति अनुशिष्यात उपदिशे तथा वायु नवी तुम्हारा नवा ले इसका मतलब क्या है गुरु को आपने जो बता नहीं सकते तो समझा नहीं पाएंगे और प्रश्न जवाब नहीं पाएंगे तो तुमने हमारे गुरु ने जो बता दो तुमको बता लेना हूँ अन्य देव तत्वीता तत् मेरा जो ब्रह्म ऐसा है जितना भी संसार में तुम्हारे लिए विदित है वो सत्य उसका बता विदित है प्राप्ति अविदिता गति अभी वो अविदित से भी पर विदित से भी परे है अविदित से भी पर है मेरे विदिता अविदित से भिन्न तत्व है अगर विदित अविदित शब्द का अनुष्ठान जिसमें विधि तत्व कल्पित है अविधि तत्व कल्पित है वो सारी कल्पनाओं का अधिष्ठान तत्व वह ब्रह्म है भटभटारी को जानते हैं विदित हो गया ना इन विदितों से भी परे और अभी भी आप बहुत सारे तथ्य हमको पता ही नहीं है पूर्व का है कौन चीज कहा है कैसा है क्या है कुछ मालूम नहीं इस संसार में व्यवहार में बहुत सारी चीजें हम लोग न देखा है न जानते तो ऐसे चीजों को कैसे समझेंगे आप जैसे बाधित कोटिंग में है ना और वैसे भी नाच करते हैं आगत करते हैं अहंकार करते हैं सब बाधित है अभी तत्वों से भी ये परे इसलिए कहते हैं वो कैसा है विदिता अन्य अविद्यावती अधिक अविद्या अति अधिक आपने ऐसा केवल छेड़ बना दिया आप कैसे समझ में आएगा ये पता नहीं क्या यदि शिष्य में कोई इंसान ऐसा मैंने पूर्व काल में आचार्यों से सुना था जिन लोगों ने मेरे प्रति ब्रह्म तत्व के बारे में व्याख्यान किया किसी प्रकार भी इसके बारे में समझाया जा सकता लक्षित किया जा सकता है उसको जो है व्याख्यान में नहीं चला विरावृत्ति से किसी शब्द के द्वारा उसका कथन नहीं किया जाता इन शब्दों के द्वारा केवल उसको लक्षित किया जा सकता है भाष्यकार इसको व्याख्या करते कहते हैं जिसलिए श्रोत्रादि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि आत्मभूता ब्रह्म है अतएव तत्र तस्वीर ब्रह्मणी को चक्षु के ग्रहण नहीं सकता स्वात्म ब्रह्म असीरा सत्स्वरूप में किसी की वृत्ति प्रयोग नहीं हो सकती इन चक्षुराजी का भी स्वरूप होता है अनुष्ठान होता है तथा नवाद्य इसी प्रकार वाणी भी नहीं जा सकती है तो वाचो ही शब्द उच्चारिमान अभिदेव प्रकाश होती है कि वाणी के द्वारा आप जो है उच्चारण शब्द जो अभिदेय है अभिनावृत्ति है उसी के द्वार द्वारा पक्ष का प्रकाशन कर सकता है अभिदेय प्रतिवाद चुके जब ऐसा होता है वाणी के द्वारा तब आपको ये कहना पड़ेगा मेरी वाणी जो है अभिधेय के प्रति ही प्रवृत्ति हो सकती है तो ये जो ब्रह्म है वो अभिधेय नहीं है यह जो ब्रह्म है वो क्या है अभिधेय कोटि है नहीं इसीलिए इसको वाणी उसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि अविधेय के विषय में ही प्राणी प्रवृत्त हो सकती है इसलिए जब एक ब्रह्म अगर अभिधेय कोटि में नहीं है अतः उस प्रेम के प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकती कथित शब्द क्या से निवर्त कारण से आत्मा ब्रह्मो अतीन लग चुकी है इसलिए सच शब्द का और शब्द का जो संपादक निर्वर्तक जो कर्मता यानी इन सभी का आत्मा ही है ब्रह्म इन सब का स्वरूप ही है ब्रह्म इसलिए उस स्वरूप में वाणी प्रवृत्ति नहीं हो सकती अतः नवाज चुकी इसलिए वाणी अपने स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ब्रह्म अतः अतः अलग कर ऐसे मैंने प्रश्न एक क्वेश्चन किया ब्रह्म तो प्रयोग का अरे ब्रह्म पंडित ही तो कर लेंगे ना ब्रह्मन शब्द है नकार लोग लोग होने के बाद लोगों के लिए ब्रह्मा ब्रह्म और अतः है अकथ ब्रह्मा को हम नहीं कल्पना करें आत्मा ब्रह्मा उसमें नहीं पढ़ के छोड़ दिया अत्यम गच्छ यथा अग्नि पाद प्रकाश पश्चाती सब नहीं आत्मा प्रकाश यदि व्यापी छतवत जैसे अग्नि है ग्राहक भी है प्रकाशक भी है लेकिन क्या वो अपने आप को जला देगा अग्नि अग्नि को जला सकता है क्या अपने स्वरूप को अग्नि कभी जला नहीं सकता अपने स्वर्ग को कभी प्रकाशित नहीं कर सकता मेरी एक तन है अग्नि जो जाप होते हुए प्रकाशित होते हुए तन मेरी आत्मा में प्रकाशित अपन में अपने स्वरूप को अग्नि अपना ही स्वरूप को नष्ट कर दे ऐसा कभी नहीं होता यही आत्मा प्रकाशित दहती इनका अग्नि क्या करता है घटपटारी को प्रकाशित करेगा लकड़ियारी को जलाता है अग्नि अग्नि को प्रकाशित करता हो तो अग्नि अग्नि को जलाता हो ऐसा नहीं हो सकता मनो मनच अन्य संकल्प इतनी अध्यवसायित्री सद आत्मान न संकल्प अध्यवसित तो मन क्या करता है अपने से जो भिन्न है मन क्या है मनश्च मनो मनो मनो मनोवादक आत्मन अन्य संकल्प थी तो क्या होता है हमेशा स्व से भिन्न घटपट मदारी वस्तुओं का ही संकल्प करने वाला और अध्यावसाय निश्चय करने वाला होते हुए ऐसा होते हुए आत्मानंद किंतु न संकल्प लेकिन वह मन आत्मा के बारे में न संकल्प कर सकता है न किसी प्रकार का निश्चय कर सकता है क्यों तो तस्या भी ब्रह्म आत्मा क्योंकि जो है तो मन का आत्मा कौन है मन का स्वरूप कौन है मन का कौन है वो ब्रह्म इंद्रिय मनोभ्यान वस्तु विज्ञानम और अदगोचरता इसलिए इंद्रिय और मन के द्वारा ही वस्तुओं का हमें विज्ञान हुआ करता है तो ये ब्रह्म कैसा है इंद्रिय और मन का अविषय होने के कारण से नवित महा उस निरूपाई ब्रह्म को विशेष रूप से जान करके मैं तुमको बता नहीं सकता तब ब्रह्म ईद शक्ति ना ब्रह्म इस प्रकार के है ऐसे नवित अतो अतो यही जानी इसलिए भी जान उसको उसका जो सोपारी रूप है उसे भी नहीं जान सकते उसमें बीच में जोड़ दो विद्या और यह जानी में बोल सकते थे विद्या जानी में पर्यावाची तो विद्या बीजानी न कर भले का मेरे पास दृश्य और अब सुपाध दृश्य ये था मन ये न प्रकार एक ब्रह्म को शिष्या उपनिषेध शिष्य अभिप्राय जिस प्रकार से उस ब्रह्म तत्व के बारे में शिशु के प्रति मैं उपदेश करूं वह स्वरूप उपदेश करने के प्रकार मैं नहीं जानता हूँ उसके स्वतंत्र होगा मैं जानने के साथ निर्वाण ये भी करण रोचरण पर अन्य उपदेश शक्ति जो हमारे इंद्रियों का विषय है उसको हम दूसरे के प्रति उपयोग दे सकते हैं जिसको मैं देखा हूँ जानता हूँ समझता हूँ दूसरा काम दिया क्या है आयाम के बारे में आपको बता सकते क्योंकि इंद्रियों को तो मैं देखा समझा घुमा फिरा अनुभव किया ऐसा काम आपको बता सकते कैसे बता सकता हूँ अरे जाति गुण क्रिया विशेषण ही जाति गुण क्रियावाचक शब्दों को लेकर के हम उनका व्याख्यान कर सकते हैं जिनका हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं मदद जात्यादि विशेषण अवध ब्रह्म लेकिन पारस जात पर विशेषण वाला यह ब्रह्म तत्व नहीं तस्मात विषम विषयान शिष्यान उपदेश प्रत्यायित इसीलिए बात बड़ा कठिन हो गए थे तस्मात विषम निदान परिस्थिति ये स्थिति बड़ी विषम स्थिति है कि शिष्य को शब्दों के द्वारा उपदेश की उसको दी रहा उपदेश पदार्थ कराने यत्ना करते काम दर्शन उसका तात्पर्य तो है उपदेश करने हुए और पदार्थ को ग्रहण करने हुए यत्न की अतिशय कर्तव्यता प्राप्त है यह बात को दर्शाने के लिए कहा जा रहा है नहीं बना नहीं जानना अत्यंत मूल उपदेश प्रकार प्रत्याख्याय प्राप्त तथा वादों में उचित तब कहते हैं कि भाई बिल्कुल ही नहीं उपदेश अत्यंत ही उपदेश प्रकार का प्रत्याख्यान प्राप्त खंडन प्राप्त हुआ तब सिद्धांत है जब खंडन करते हुए प्रभाव क्षति समापनाग जो कार्य नहीं उसको उपदेश नहीं जिस प्रकार के तुम चाह रहे थे जाति गुण क्रियावाच शब्दों से मैं उसको पकड़ के दिखाऊं उस प्रकार से बिल्कुल ही नहीं हो ये भी नहीं कहा उसका उपदेश अत्यंत असंभव है ये भी नहीं कहा रहे पूर्व किस प्रकार से होगा अन्य देवतों इत्यादि हाँ, सत्य एवं प्रत्यक्षांग प्रमाण न परा प्रत्यय यह बात बिल्कुल ठीक है ये प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा मैं पर पुरुष को अपने शिष्य आदि को उससे आत्मकृत का हम नहीं करा किन्तु आगम निश्चित प्रत्ययतम तो किन्तु जो है आगम के द्वारा उन्हें गुरु परंपरा से अनादिगण आचार्य परंपरा से प्राप्त जो शब्द है उन्हीं को उच्चारण करके हम शिष्य को गुण प्राप्त करें आपको को न माहा इस भ्रम को उपदेश करने का प्रयोजन वाला उस आगम का कथन कर रहे हैं अन्य अनुसार अथ अभिनेता अन्य लोग ने प्रदेव कथन श्रोत्राजन श्रोत्रादि जो कथृत है श्रोत्राजन को श्रोत्रादि करके यह जो है ना अन्य देव उत्तम अवशयन पेशा उत्तम की चिकित्सा क्योंकि कहा आया में पहले ही कृष्णों का इंद्रियों का विषय नहीं बनता तत्ता अन्य वही इसलिए वह ब्रह्म विदित से दूर ही होगा विद्या है विदितम नाम यद विदित क्रिया अतिश्रीय न आप क्रिया कर क्रिया कलम क्वचित किंचित कचित जो विधातु की क्रिया जानना वो भी क्रिया के द्वारा अतिशय रूपेण प्राप्त इंद्रियों के माध्यम से विषय रूपेण विधि क्रिया करो तक होने का मतलब वह घटपटारी जो विधि क्रिया का कर्म क्रिया के फलाकर कर्म करो तक क्वचित किंचित कस्यचित किसी न किसी देश और काल विशेष में किसी न किसी वस्तुओं को किसी न किसी के द्वारा ग्रहण किया हुआ क्वचित किंचित कचित भी सर्वमेव व्यापृतम जगत तद्वीतमेव तो जो कुछ व्यापक जगत है ऐसा का सारा विदित ही है तस्मात इस व्यापक ग्रम से भिन्न ही है वह शुद्ध अभी तुमने अज्ञातम करी प्राप्त आह अभी तुमने अज्ञातम ऐसी नहीं आप कर सकते तब प्राप्त सती प्राप्त आहत अविता विपरीता अव्याकृता अविद्या लक्षणार्थ व्याकृत बीजाद अविता करते विपरीत क्या हुआ व्याकृत से विपरीत अव्याकृत का मतलब अविद्या रूपा जो की व्याकृत का बीज है उस बीज से अभी ही विपरीत लक्षण अन्य विद्यता की बात क्या है उससे भी ऊपर है उससे ऊपर है उनको टीचर के ऊपर है मिलेंगे क्या को तो मिलेंगे बात यहाँ पर उसलिए पहले भी अन्य तत्व समझोगे जब भी यस्मात अधिक उत्तरी भवती तब रीति प्रसिद्ध प्रसिद्धम क्योंकि जो जिससे ऊपर हुआ करता है वह निश्चित रूप से उससे दूर ही होता है यह कम तद अल्पम मर्थ दुखा तो अनुच्छक्ति प्रिय जो रीत है वो अल्प मर्थ है दुखात्मक है इसी बात क्योंकि तस्मा रीता अन्य ब्रह्मा इसलिए उस विदित से भिन्न ब्रह्म इत्युक्ते प्रति अहित उपनिषद ऐसे कहने से ज्ञापन हुआ कि अब ब्रह्म क्या है अहेय है बाकी सारा संसार ही है लेकिन ब्रह्म अहेय है तथा अनिपादरित के अनुपादित उपनिषद तवादरित उपाधि नहीं था विहित से अधीन है हेय से अधीन अर्थात अहेय है और अविहित से अधीन है जो अप्राप्त आपको सुख प्राप्त करने की चेष्टा करोगे तो अग्नि क्या आ गया उपाधि उससे भी परे मन है ये अनुपाधि है मैंने ये अहेय और अनुपाधि अनुपादित कार्यार्थम ही कारणम अन्य अन्य उत्पादित क्योंकि कार्यार्थम ही तो कार्य के लिए ही कारण को अन्य अन्य अन्य कारणम अन्य उत्पादित कारण अन्य कारण को अन्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है मैंने जैसे भी कार्य को बनाने के लिए कुंभार रूपा आदमी जो है मिट्टी रूपी कारण को ग्रहण करता है ये यहाँ पर विदित हो गया भी आप नहीं हो कुंभ तो ब्रह्म को कार्य नहीं है जिसके लिए कोई कुंभकार आदि कोई वस्तु अगर पकड़ेंगे और उसको लेकर ग्रहण को बनाया जाएगा ऐसा हो रही इसी प्रकार उत्पाद का जैसे दृष्टान है संस्कार भी नहीं आप भी नहीं प्राप्ति भी नहीं तरह तो हो चुका है नव वेदित और अन्य आया अन्य उत्पादन भवती पीड़िता का पीड़ित अन्य सुनी प्रयोगाय अन्य प्रेरण के लिए अन्य उपाधि लोग अन्य अन्य का उपादान नहीं करते इतम इसलिए वीता दोनों से अन्य तो तात्पर्य क्या हुआ हेयोपादित प्रतिषेधी न उसके हेय उपाय दोनों का प्रतिषेध के द्वारा स्वार्थ अन्य ब्रह्म विधेयक जिज्ञासा शिष्य से निरोधिता उसने क्या कर दिया शिशि के अंदर जो जिज्ञासा थी क्या मेरे से अलग कोई ब्रह्म नाम का वस्तु है तो उस जिज्ञासा को दूर कर दिया स्वात्मा से भिन्न तो ब्रह्म विषय जिज्ञासा को शिशु करे विषय जिज्ञासा को निवृत्त कर दिया क्योंकि जो शिशु है जो उसकी अपनी आत्मा है अपना स्वरूप है स्वात्मा से भिन्न कोई ब्रह्म नाम के तत्व नहीं है तो में यही था कि प्रश्न करता है परंतु वक्त शिशु नहीं घर से मैं हूँ जानने वाला बोलने वाला करता भोगता अहम ममुद्योग लेकर के चल रहा हूँ जो इन सबसे जैसे मैं अहमदा ममदा से लेकर अव्यक्ति भक्ति संपन्न व्यक्ति नहीं है वो जो कि मेरी से भिन्न तो ये अहमदा ममदा से तंत्र से भिन्न भिन्न होगा वो बेटा ये पूछने की आशु थी और सिद्धांत ने उसने गुरु ने आचार्य जवाब दिया भाई तू ही है और जो पहले में आएगा अंता मंता कर्म व्यक्तित्व तो वो आध्यात्मिक तो विदित कोटि का है और हेरी कोटि का है और जो अन्य से यहाँ ब्रह्म को लाना चाहो वो उपाधि भी नहीं है वो तो अनुपाधि रूपा है जो उपाधि होता है वो लाया जा सकता है कहीं से ढूंढ डांग पकड़ के ला सकते हैं तो वो ब्रह्म ऐसा नहीं है इसलिए यह ब्रह्म न प्राप्त का हे रूप है न अप्राप्त का उपाधि रूप है किंतु ये तुम्हारा स्वरूप ही है इसमें वह है और अनुपादी है इसका से कहा करेंगे शिशु के बुद्धि में विद्यमान की जिज्ञासा स्वभिन्न भ्रम का खोज करने